बारहवें मैंने खुदा के रसूल से पूछा कौन सा काम बेहतर है उन्होंने कहा दुआ उसके इख्तियार पर है इसने कहा मैंने कहा फिर किया उन्होंने कहा वालदेन की रास्तबाजी इसने कहा मैंने कहा फिर किया उन्होंने कहा कोशिश खुदा की राह में है